प्रकाशित नहीं है पाठ वह श्लोक पूरा का हो रहा है वही सत्यम देन वही प्राप्त स्वप्न आहो प्रकाशित नहीं है पाठ यही है ना यही ठीक है अभावश्च रताजी नाम श्रेयते न्याय पूर्वकम स्वप्न में देखने वाले रताजियों का भाव तर्क पूर्वक भी श्रुतियों में सुना जाता है तर्क पूर्वक सुना गया है न तथा योगा ब्रजाने का बड़ा विवेचन हुआ है स्वप्न का सुषुप्ति वगैरह का कहीं पर तो ऐसा देखा कि जागृत से सीधे ही सुषुप्ति फिर तुरंत जागृत हुआ कोई जागृत से स्वप्न में गया फिर स्वप्न से सीधे जागृत में आ गया कोई जागृत से स्वप्न स्वप्न से सुषुप्ति फिर सुषुप्ति से स्वप्न फिर स्वप्न से जागृत ऐसा ये सब विवेचन व विकल्पों का विचार दिखाया गया है वहाँ के श्रुति को देंगे जो न्याय पूर्वक सिद्ध श्रुति है वो अतः स्वप्न में जो भी पदार्थ है अतः तेरा स्वप्ने वही सत्यम प्राप्तम स्वप्ने प्रकाशितम सर्व वही सत्यम प्राप्तम इसलिए स्वप्न में जो भी युक्ति से सिद्ध मिथ्यात्व श्रुति पे स्पष्ट किया गया है ऐसा ब्रह्मता लोग भी कहते हैं आहु न कह के मनीष न ब्रह्मविद भी इतश्च स्वप्न दृश्या भावा वितथा इसलिए भी स्वप्न के दृश्य भूत जो पदार्थ है वो कैसे है वितत है मिथ्या है स्वप्रभाव वितथा टिप्पणी स्व स्वभाव स्व अभावती प्रतिमाता स्व अभावाधिकरण में प्रतीत हुआ है स्व अभावती प्रतीयमान टिप्पणी हेतु तीसरे नंबर टिप्पणी दिया अपने इसमें स्वप्न भाव वितता कथम स्व अभावती प्रतीयमानता सोमने पर्वत गजारी उनके अभाव कौन ने शरीर का भीतर नारी का देश उसमें प्रतीत होने के कारण से रज्जु सर्वाधिवत रज्जु सभी स्वभाव अधिकरण अनुभव हो रहा है तद अभाव तद प्रकार का अनुभव यही यथार्थ अनुभव है इसलिए यथार्थ अनुभव मानना पड़ेगा स्वप्न और स्वप्न के पदार्थों को यदि सूचिता में संकेत कर दिया भाषाकार ने ये तो अभाव चाहिए नाम स्वप्न दृश्य नाम श्रोत है क्योंकि स्वप्न दृश्यों के दृष्टिकोण रदारी इनके अभाव ही श्रुतियों में भी श्रुत है अरे श्रुति कह रहे तो हम कैसे मान ले कर ये वो तो ऐसे बोल दिए कहते नहीं न्याय पूर्वक मन युक्तिता श्रुत होता युक्ति से युक्त होकर कहा गया है श्रुति में नतरता इत्यादि स्थल में उपनिषदों में वृदा ने कहा तेरा अंतस्थान समृद्धत्वादि हेतु है तेरा अंतस्थान समृद्धत्व इत्यादि और उचित अकारकत्व या उचित कारभावत्व इत्यादि हेतुओं के माध्यम से जो है प्राप्त वैतथ्यम उस प्राप्त जो वैतथ्यता उसी को श्रुति अनुवाद कर रही है ऐसी श्रुतियों को स्वतंत्र श्रुति हम नहीं मानते क्योंकि लोक सिद्ध वस्तु को श्रुति भी कहेगी तो श्रुति की श्रुति तो खत्म हो जाएगा वेद की वेदत्व तो इसी में है वेद की महिमा इसी बात में है कि वह सर्वानुभव से सिद्ध जो नहीं है उस तत्व को ज्ञान कराता है और सबको ज्ञान कराने के लिए जगह जगह पर सर्वानुभव वस्तुओं का अनुवाद करता है और ये जो श्रुति है न तदरतार्थ योगा इत्यादि यह श्रुति भी अनुवादिनी श्रुति सर्वानुभव सिद्ध स्वप्न का अनुवाद करके जगत मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त श्रुति इसलिए स्वतंत्र श्रुति करके प्रामाणिक श्रुति में नहीं कह रहा जो भी अनुवाद होता है वो प्रामाणिक नहीं होता है अनुवादम कदापि प्रमाणम भवती अनुवाद स्वतः प्रमाण हो नहीं सकता इसलिए स्वतः प्रामाणिक श्रुति रूप में हम यहाँ प्रस्तुत नहीं किया है ये समझो स्वतः प्रामाणिक श्रुतियां तो पूर्व में विचार हो गया आगम प्रकरण में अब जो है युक्ति से सिद्ध सर्वानुवाद स्वीकृत जो तत्व उसके अनुरूप अनुवाद श्रुति को हम यहाँ उपस्थित कर रहे हैं इसलिए भाष्यकार कहते हैं तद अनुवादिन्य श्रुतिया तर्क से सिद्ध है विभिन्न हेतुओं के सिद्ध जगत जगत के मिथ्यात्व है उसी चीज को अनुवाद करने वाले श्रुति के द्वारा स्वप्न में स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन पुरया वह लक्ष्य क्या है वहाँ लक्ष्य ही है स्वप्न का जो दृष्टा है वो क्या है वो स्वयं ज्योति है ये साबित करने के लिए वहाँ विचार किया अनुवाद किया स्वप्न को स्वप्न और स्वप्न के मिथ्यात्व का जो अनुवाद किया गया है वो इसलिए किया है कि स्वप्न में जो दृष्टा है वो स्वयं ज्योति है इस बात का प्रतिपादन करने के लिए प्रकाशितम श्रुतिया स्वप्न पदार्थ के मिथ्यात्व को प्रकाशित किया गया है इति आहो के ब्रह्म विद ऐसे ब्रह्मविद्ता लोग कहते हैं जागृत दृश्य भी इसी प्रकार से मिथ्या स्वप्न सिद्ध हो गया दृष्टान सिद्ध कर दिया तद अनुवाद श्रुति जिसके द्वारा आत्मा का स्वयं ज्योति और सगल पदार्थों को जो है मिथ्या जड़ कल्पित करके साबित कर दिया को श्रुति से संबलित कर देना संबलित कर दिया इसको बल प्रदान कर दिया गया है करने के बाद जब स्वप्न की सिद्धि मैंने दृष्टांत सिद्धि हो गई और अब दाष्टान में घटाएंगे ये जो जागृत अवस्था है इसमें भी जितने भी दृश्य भाव पदार्थ है ये भी मिथ्या है स्वप्न के समान जगत जागृत जगत भी मिथ्या दृश्य स्वप्न दृश्यवत ऐसे अनुमान कर ले कैसे करोगे है? पहले प्रतिज्ञा तो वाक्य चाहिए ना पंचावय वाक्य के बिना हम आपके सर के अनुमानों को मानेंगे नहीं पंचावय तो चाहते हो लो पंचावय अनुमान भी हम देते हैं तेरे को अंत तारात्म वेदान तस्मा जागरित स्मृतम यथा तत्र तथा स्वप्ने समृतत्व विद्यते सा कर दिया अंत स्थानातु ये हेतु जागृत जागृत कालीन भेद वही पदार्थ मिथ्या है प्रतिज्ञा होगी हेतु क्या है अंतस्ता इत्यादि सकल हेतु को संकेत कर दिया और समृतत्व देते ना समृतत्व विद्यते वो भी ले लेना यह समृत में अविद्या विद्यते अविद्या के कारण से भेद प्रती है यथा स्वप्रे तत्र तथा कदि यथा स्वप्रे दृष्टान्त हो गया तस्मात तथा ये कहेंगे ना तथा चय तस्मात था उसको संकेत कर दिया तत्र तथा शब्द तत्र तथा कर तत्र में सर्वमिति कर दो तस्मात तस्मात अयम एक ले लो तस्मात तथा तथा चय तस्मात तथा दोनों अर्थों के लिए संकेत कर दिया जब इसलिए पंचावन एक नंबर टिप्पण में स्पष्ट है जागृत भावा वितथा ये हो गया प्रतिज्ञा जागृत भावा तथा प्रतिज्ञा ये तो क्या है दृश्यता अंतसत्ता इत्यादि हाँ, तात्पर्य दृश्यता ये ये दृश्य ते ते वितथा यदा स्वप्रभाव ये क्या हो गया उदाहरण वाक्य हो गया तथा च ये तो बोलोगे तो वहां तथा का बोलते क्योंकि एक तथा वन एक वचन या तो बहुत है ना भावा इसे तथा च इमे उसकी वाक्य स्वयं बताए तथा चन का मतलब तथा तथा इत्यादि का क्या करोगे मिथ्यात्व व्याप्य दृश्यत्व इमे मिथ्यात्व का व्याप्य भूता दृश्यत्व हेतु वाले ये समस्त पदार्थ है ऐसा आपने उपनय कर लिया अब रह गया निगमनम तस्मात तथा तस्मात इत्यादि कर गया मिथ्यात्व दृश्यवादेव तथा मने वितथा इत्यर्थ तथा वैतथ्यवंत अनुमान मात्र बोध्यम इस प्रकार से पंचावय अनुमान को ही इस कार्य के द्वारा संकेत किया गया है ऐसा समझना चाहिए जागृत दृश्याराम भावाराम वैतत्यमिति प्रतिज्ञा जागृत में दिखाई दे समस्त दृश्य भाव पदार्थ मिथ्या है ये यहाँ प्रतिज्ञा वाक्य है तस्मा जागृत भेदाराम स्मृतम इसलिए जागृत में जो भेद है वो सब कैसा मिथ्या है ऐसे लोगों ने स्मृति का, का, कहा है क्यों अंत स्थान क्योंकि अंत स्थान शुद्ध स्थान आदि हेतु जो पूर्व में कहा गया जिसका तात्पर्य सभी शब्दों का तात्पर्य क्या है एक हेतु में दुष्यत्व अंत स्थान का भी तात्पर्य है दुष्यत्व मैंने परिच्छता है और उचित काला जवाब का भी तात्पर्य दृश्यत्व क्योंकि ये सर्वात्मा आपका अद्वैत और नित्य मोक्ष सभी चाहते हैं जगत नित्य है अतः जो भी दृश्य होगा वो अनित्य है या नहीं अरे सभी हेतुओं का तात्पर्य अंत में कहा पहुंचेगा दृश्य दृश्य उसी का नाम है जो अस्थायी है दृश्य उसी वस्तु का नाम है जो अस्थायी अनित्य है इसे सभी हेतुओं का तात्पर्य दृश्य था यदि का अलग अलग करके लेंगे दृश्यता तो हेतु तो परिचनत्व तो अलग अलग बने अनेक हेतु और सावय प्राप्ति ये सब हेतु अनेक देंगे भाष्यकार स्पष्ट करते हैं दृश्यत्वादिति हेतु हो स्वप्न दृश्य भाव इति दृष्टांत स्वप्र के दृश्यभूता भाव पदार्थों के समान यह दृष्टांत समझे यथा स्वप्ने तत्र तथा है ना श्लोक कारिका में भी यथा स्वप्ने तत्र तथा एक अंतस्थानात्म भेदान तस्मा जागरिदे स्मृतम यथा तथा स्वप्ने पंचावय रूपा वाक्यात्मक इस अनुमान को बता रहे हैं जिस पर विचार कर टिप्पणानुसारेण हो गया था मूल में कह रहे देखिए जागर दृश्यानाम भावना वैदत्यमिति प्रति जागृत कालीन जो दृश्य भूता समस्त भाव पदार्थ ये क्या है वैदत्यम मन क्या है ये प्रतिज्ञा होती है दृश्यत्वात हेतु दृश्य भाव स्वप्र में दृश्य भाव पदार्थ है उन्हीं के सभा ये दृष्टान्त है यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानाम भावना वैदध्यम तथा जागृत अपनी दृश्यतम अवशिष्ट अविशिष्ट अविशिष्टम हेतु उपनया जिस प्रकार तत्र मैंने स्वप्न दृश्य मैंने जितने भाव रूपा दृश्यता है उनके मिथ्यात्व तो का अनुभव हुआ ठीक उसी प्रकार से जागृत काल में भी दृश्य हेतु समान होने के कारण से अविश्चित मैंने समान होने के कारण यह हेतु अर्थात जो तो पक्ष में सिद्ध हो गया ये उपनय हेतु की पक्ष धर्मता का निश्चय पक्ष प्रतित्व निश्चय होने का नाम ही है जिसलिए हेतु पक्ष में है तस्वाद जहाँ कर दे वही तथ्य तो में निगम अपक्ष में शादी की सिद्धि कर दिया ये निगमन अंतस्थाना समृतत्व नाम भावना जागृत दृश्यभ्यो भेद फिर जागृत और समृद्ध भेद क्या है तब कह दिया अंतस्थान तो भेद ये अंदर है वो बाहर है इतना है फर्क कुछ अंदर है कुछ बाहर है जो स्वप्नस्थ है वो अंतस्थ है और समृद्ध है और जागृत वाला है वो बहिस्त है और विव्रत है स्वप्न दृश्यानाम भावानाम स्वप्न का दृश्यता भावों का जागृत दृश्य अपेक्षा से यही भेद है दृश्यत्व मैंने असत्यत्व च अभिशिष्टम उभयत्र दृश्यत्व और असत्यत्व अर्थ मिथ्यात्व जो हेतु और साध्य ये दोनों के दोनों स्वप्न और जागृत दोनों जगह समान है प्रसिद्धि नहीं वह कहते कि भाई इसको और स्पष्ट करने के लिए प्रसिद्धि के माध्यम से भी कथन करना चाहते हैं स्वप्न जागृत स्थान एकम आहोर मनीषिण भेदानाम प्रसिद्ध प्रसिद्धि नहीं वह हेतुरा प्रसिद्ध नहीं वह हेतुरा जो प्रसिद्ध हेतु तो क्या है ग्राही ग्राहक भाव भेद है जागृत में भी क्या है हम ग्राहक हैं और समस्त विषय ग्राही है स्वप्न में भी आप ही ग्राहक होते हैं और बाकी सब ग्राही हो जाता है उल्टा कभी नहीं रहेगा किसी ने अपने आप को ग्राही बना करके घटपट ग्राहक हो गया ऐसा होता है कभी स्वप्न में घट आपको जान रहा है और आप घट जैसे जड़ बन के बैठे हुए हैं और घट बोल रहा है घट आपसे काम कर रहा है ऐसा तो कभी नहीं वहाँ भी ग्राही ग्राही ही है ग्राहक ग्राहक ही है यथा जागृत में ग्राह्य और ग्राहक भेद होता है प्रसिद्ध भेद है ग्राह्य ग्राहक भाव भेद जैसा लोक में जागृत में हम अनुभव कर रहे हैं वैसे स्वप्न में भी है कभी तो प्रसिद्ध ही नहीं वही तुना तो प्रसिद्ध हेतु के द्वारा स्वप्न और जागृत स्थान एकम इति आहुमनिशन स्वप्न और जागृत दोनों को एक रूप वाला है ऐसा विद्वान पुरुष लोग कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष लोग ब्रह्म ज्ञान लोग कहते हैं क्यों प्रसिद्ध जो हेतु के कारण से दृश्यत मिथ्यात्व ये प्रसिद्ध हेतु है इन प्रसिद्ध हेतु का कारण क्या है ग्राही ग्राहकत्व तो भेदा नाम समत्व न क्यों ग्राहकत्व आदि रूपा जो भेद है वो समत्व समान है वह हेतु ना भेदा नाम ग्राह्य ग्राहकत्व हेतु ना ये जितने भी भेद है इनमें ग्राह्य और ग्राह दो ही वास्तव को जो है हम विषय ग्रह कर रहे हैं यही प्रसिद्धि है इस प्रसिद्ध हेतु के द्वारा समत्ते न समान होने से कौन दो समान हो स्वप्न जागृत स्थान यो हो स्वप्न स्थान दोनों ही जागृत स्थान दोनों के दोनों बराबर हो गए अतएव एकत्व महु एकत्व करके कथन कर दोनों एक ही है ऐसा कह देते दोनों मिथ्या है दोनों ही दृश्य होने से दोनों ही मिथ्या है इसलिए कौन कहता है विवेक नहीं थी पूर्व प्रमाण सिद्ध से फलम पूर्व में जो कार्यक्रम में क्या किया था अनुमान प्रमाण किया था ना उसी का फल कथन पूर्व में जो अनुमान प्रमाण आपने दिया है उसी अनुमान प्रमाण का फल स्वरूप कथन मात्र ही है फल का स्वरूप कथन इसलिए कहते देखो नीचे टीका कर दृश्यत्व हेतु ना प्रसिद्धम में तेषा न समत्व श्लोक ऐसे घटाना है दृश्य रूपी हेतु के द्वारा प्रसिद्ध ही है यह बात कि मिथ्यात्व को लेकर के समानता तेरह स्थान और एक रूपतम इसे दोनों स्थानों की एक रूपता समझो किनकी दृष्टि से विवेक के नाम अप्रेतमिति यद पूर्व अनुमानाख्यम प्रमाणम सिद्धम तस्व फलम साधन स्थल अविशेष रूपम अन्य श्लोक के नोक्तम श्लोक योजना दर्शयती प्रसिद्ध इत्यादि कहते हैं ठीक है जागर दृश्य होता भाव पदार्थ का आपने कहा तो दिया दोनों समान दोनों दृश्य होने से दोनों मिथ्या है दोनों दृश्य होने के बावजूद के राग समान ही है इत्यादि लेकिन अंतर बहुत है पूर्व पक्षी कहता है हम रोज रोज आते हैं यहाँ जागृत में जब भी हमको तो अपना सामान सब वैसे दिखता है सारा चीज उसी जगह पर है टॉयलेट भी वही है बाथरूम भी वही है बेडरूम टॉयलेट नहीं हो जा रहा है टॉयलेट बेडरूम नहीं हो रहा है उल्टा काम तो होता नहीं और टूथपेस्ट वगैरह भी वही मिल रहे हैं है या नहीं सारा चीज जो चाहे वैसे ही मिल रहा है न रोडे बदल रहे न गलियां बदल रहे बाहर का अंतर पट रहा है और स्वप्न में रोज रोज अलग अलग बनते जाते ये तो स्थायी है वो अस्थायी इसलिए दोनों में अंतर है इस स्वप्न और जागृत दोनों को एक करके जो कहते हैं ना विवेकी वास्तव में अविवेकी ऐसे कैसे होगा क्योंकि हम रोज अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर वही वही अनुभव आ रहा है ना यहाँ पर तो विवेकी ना आपने कैसे होगा मनीषी ना क्या मनीषी क्या विवेकी है वो इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो इस स्वप्न में रोज रोज बदल जा रहा है वही मार्ग तो वहां मिलता नहीं जागृत में निरंतर स्थायी है वही बार बार मिलता है इसलिए जागृत वस्तु मिथ्या नहीं हो सकता सत्य पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कहते भाई तुम जागृत में आने से पहले थे क्या तुम्हारे लिए है? आप जब जागृत में आए उससे पहले आपके लिए चीज थे क्या नहीं, मेरे लिए तो थे नहीं कहाँ गए थे ये सब पता नहीं कहा यही तो होंगे और क्या है होंगे ना लेकिन तुम्हारे तो थे नहीं जब तुम सो गए बाद में तब कहा गए सब तुम्हारे लिए थे क्या नहीं थे अभी आपको मैं क्या बीच में दिखाई दिया मैंने पहले भी नहीं थे बाद भी नहीं थे और अब क्यों दिखाई दे रहा है पीछे में जागृत काल मात्र में इसका तो इसको सत्य हम कैसे माने ये त्रिकार्य का बाध्यता रूपी आपको अनुभूति होती क्योंकि ये तो आपको मालूम है जागृत में आप है ना स्वप्न सुश्रुत में आप नहीं थे कहोगे कोई जागृत से पहले आप नहीं थे और जागृत के बाद भी आप नहीं रहेंगे ऐसा होता है क्या हुँ? हम्म? नहीं होता क्योंकि आप निश्चय कर ले के अनुभव करके कहते हैं कि मैं अब भी हूँ तब भी था आगे भी रहूंगा या नहीं जागृत में भी हूँ स्वप्न सृष्ट काल में मई था इसे तीनों काल में मई रहा लेकिन ये वस्तु में विचार दिख रहा है इसीलिए जो पहले नहीं है बाद में नहीं है तो बीच में उसको नहीं के समान मानो जो पहले था बाद में भी है अब भी है तो उसी को ही हम सत्य मानेंगे इस आधा बनते नास्ती वर्तमान तथा वितत सदृश संतो अवितथा इव लक्षिता आजा बनते चन्नास्ती उत्पत्ति से पहले और उत्पत्ति के बाद ये जो अर्थ तुम कह रहे हो पदार्थ करके है करके मान रहे हो इनकी उत्पत्ति से पहले और उनके विनाश के बाद में कभी उपलब्ध नहीं होते आदो मन उत्पत्ति पूर्वम अंते मने विनाश अनंतरम यह नास्ती जो न होते हो वर्तमान तथा इस वर्तमान में भी वास्तव में वे ही नहीं दिखाई दे रहे हैं केवल ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं तो रोज रोज व्यवहार कर रहा हूँ तो क्या करे आपकी जो है भ्रांति का कोई ठिकाना ही नहीं आपकी पक्की भ्रांति है ना रोज एक जैसे भ्रांति कर लेते हो तो मैं क्या करूँ रोज ही आप एक ही जैसा भ्रांति हो जा रहे अनारी काल से और आज से नहीं अनारी से आप एक जैसा भ्रांति होता है क्या भ्रांति हो रहा है जागृत को सत्य मान बैठते हो क्या आपकी भ्रांति ये भी इसलिए वित्त ही सदृशा प्रज सर्प इत्यादि के समान ये भी है लेकिन फिर भी आप अविदता इव लक्षिता सत्य के समान आपको आप जो इनको लक्षित कर लेते हो आपकी अपनी कमी है इसलिए कौन अविवेकी हुआ वो विवेकी अविवेकी नहीं हुआ रहा आप अपने आप को जो विवेकी मान रहे थे वो अविवेकी हो गए वो तो विवेकी तो विवेकी ही रह गया सही है नहीं वो जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है स्वप्न और जागृत दोनों एक स्वरूप माने हैं विदत ही सदृशाखंडो इसलिए विकत ही मैंने ब्रज सर्वादि भी सदृशा संधा सदृश होते हुए भी आप लोग जो अभी तक के समान इनको लक्षित कर लेते हैं इतश्च वैतत्यम जागृत दृश्याम भेदाराम जागृत दृश्य भेद स्वरूप गड़बड़ा जितने भी है ये सब मिथ्या है क्यों आद्य और भावा आदि और अंत कालो में ये नहीं होते अर्थात आदो अंत नास्त आदि में नहीं थे अत उत्पत्ति के पूर्व काल में नहीं थे और अंत मैंने विनाश अंतर काल में भी ये नहीं होते है टिप्पण स्पष्ट कह रहा है आदावंत अनियोर उत्पत्ति प्रांग नाश अनंत अर्थ बोध्यो नास्ती वस्तु वस्तु कोई नहीं रहता है इसलिए मृग दृष्टि का आदि तन मध्य भी नास्ती थी जैसे मृग आदि वस्तु है वो उत्पत्ति के पूर्व में नहीं था बाद में भी नहीं रहते हैं इसलिए मध्य में भी आप मानते हो कि वास्तव में था नहीं मुझे ऐसे दिखाई दिया था यदि निश्चितम लोक है ऐसा लोक में हर व्यक्ति अपना निश्चय अनुभव किया हुआ है तथा इन्हें जागर दृश्य वेदा ठीक उसी प्रकार से जागरण की दृश्य होता समस्त भेद भी ऐसे ही समझो प्रलय काल में रहते नहीं सृष्टि के पूर्व थे नहीं बाद में जब विनाश हो जाता है प्रलय होता है तब नहीं रहते हैं और बीच भगवान के संकल्प सब आ जाते हैं तो है कैसे मान लिया जाए इसीलिए तो ये सत्य होते तो न इनका प्रलय होना चाहिए इसलिए मीमांस तो संसार का सत्य माना प्रलय नहीं मानते सर तो प्रलय मानेंगे तो सारा चौपट हो जाएगा वो घबरा गए वेदांत से कहते कि तो वेदांत मिथ्या कर देगा संसार को इसलिए हम कहते प्रलय होता ही नहीं अनाधिकार संसार चला उत्पन्न कब हुआ पता नहीं उत्पन्न के बारे उत्पत्ति के बारे पूछो मत और इसका नाश होता नहीं है था है और रहेगा नित्य संसार चलते रहता है ऐसा कन तो है हो जाता ये कोई भी वस्तु नित्य रूप अनुभव नहीं करता जैसा घट बता दिए तदोते तो सारे को ले लूंगा एक रह नहीं भी विनाशी कार्य हेतु है पर्वत आदि विनाशी भवित वरंदी कार्यत्वात घटवत्थ बन जाए जिन पर्वताचार्यों का आप कहते हैं मेरा पूरा जन्म से मैं यही देख रहा हूँ मेरा पाप मेरा दादा परदादा उनका दादा उनका भी दादा उनका भी दादा सब यही जमीन जागर करते रहे हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं तो उसे क्या फर्क पड़ेगा है उसे कोई फर्क पड़ता है क्या कार्य हेतु के आधार पर उनको भी विनाशित सिद्ध हो जाएगा जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कोई बच्चा पैदा हुआ जो भी पैदा हो गया सब सौ साल जिएगा ऐसा होता है क्या नहीं है नहीं होता यद्य उत्पत्ति मतम तत्व शतायुक्तम ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कोई पांच साल में मर जा रहा है कोई तीन साल में मर रहा है कोई पैदा होते ही मर रहा है कोई घर में ही मर जा रहा है कोई सौ साल क्रास करके एक सौ बीस एक सौ तीस में भी मर रहा है हम क्या करें तुम्हारी व्याप्ति कैसे बनेगी इसलिए असापेक्ष नित्यता का व्यवहार कर सकते हो हमारे दादे परदादे सभी ने किया था इसका मतलब वो सापेक्ष नित्यता है हमारी आयु सौ साल की है उस हिसाब से मान लो सौ साल हम अपने शरीर की अपेक्षा से पर्वत को हम देख रहे हैं तो 500 साल से रह रहा है लेकिन रह तो रहा है 500 साल से तो कभी न कभी इसलिए नष्ट हो ही जाएंगे इसे कोई संशय नहीं इसलिए कहते इस प्रकार के हितों के द्वारा इनकी जिनकी आप सत्यता मान रहे हो वे कभी सत्य हो नहीं सकते इसलिए चाहे मीमांसा कहा जाए संसार को सत्य सिद्ध करने चाहे नहीं आए को कोई भी इसको सत्य सिद्ध नहीं कर सकता एक एक करके साहब का खंडन करेंगे क्रमशः अभी तो शुरुआत किए ही है तथा इमे दृश्य वेदा आद्यम अभाव मृग दृष्ट का आदि और अंत का न होने के कारण मन इनकी उत्पत्ति और विलय अंत की प्राप्ति न होने से मृग दृष्टि का आदि के समान ये भी मिथ्या है समझो अतएव वितता एवं निश्चित रूप से मिथ्या ही है तथापि फिर भी क्या हो रहा है अवितता इव लक्षिता केना अमूढ़ अनात्म विधि मूढ़ ही मैंने अनात्म विधि मूढ़ों के द्वारा वेदताओं के द्वारा जो है इसको सत्य के समान लक्षित कर लिया जा रहा है और कहा जा रहा है रोज रोज हमको यहाँ पर यही चीज मिल रहा है इसलिए ये सत्य है ऐसे मान वो तो, तो अनात्मवेदता लोग है आत्मविता नहीं है आत्मविवेक हो जाएगा तो अपने आप कहेंगे सर इसलिए हम सोचते कई बार जो है जैसे स्वप्न से हम जागृति में आ जाते हैं तो जा स्वप्न के सकल पदार्थों को हम या मिथ्यानुभव कर लेते हैं लेकिन पता नहीं क्या ये विचित्र विद्या विचित्र माया ऐसी खेल रची हुई है हम जो स्वप्न में जाते हैं वहाँ जागृत मिथ्यानुभव नहीं होता यदि आप स्वप्न में गए और वहाँ जागृत मिथ्या ऐसा निश्चय कर लोगे तो फिर तो कल्याण हो गया तुरंत मुक्ति माया क्या करेगी आपकी इसलिए माया क्या ऐसी विचित्र छाड़ है स्वप्न में आपको जागृत को मिथ्या करके नहीं अनुभव जागृत ने भले स्वप्न को मिथ्या करा दे रही है ये तो अविद्या की महान कृपा है नहीं तो वेदांत ठप था क्या करता वेदांत फिर आप तो स्वप्न के आधार पर तो बोल रहे हैं हम लेकिन माया की असीम कृपा है कि स्वप्न को जागृत भले मिथ्या कर दिया लेकिन सब तत्काल मुक्ति भी देना नहीं चाहती है आपको माया के सामने जब तक घुटना नहीं टेकोगे भक्ति नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान में ही देना चाहती है इसलिए वो जागृत स्वप्न मिथ्या नहीं करती जितना आप रगड़ेंगे तब धीरे धीरे माया ढीली पड़ेगी और तब जाकर धीरे आपको इसलिए ना उपनिषद छद्रविवाह तो यही कहते हैं पहले ढीला पड़ता है अविद्या ढीली हो जाती है जब आप ब्रह्म विद्या की ओर जाते गमन करते हैं गमन विद्या प्रवेश कर जाते हैं तो धीरे धीरे अविद्या ढीली पड़ती है फिर अंत में अविद्या नाश जब हो जाती है तब जागृति विद्या अनुभव ये विलक्षणता है ये अविद्या की महिमा है इसलिए अनात्मवेत्ता लोग जो है ना इस बात को नहीं मानते और सत्य कहने लग जाते हैं लेकिन कहते हैं महाराज इनके तो प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है हमारा भूख पैस मिटा हम इसको मिथ्या कैसे मानेंगे हम रोटी को मिथ्या कैसे मानेंगे क्यों मैं खाता हूँ तो मेरा भूख मिट रहा है तो सब प्रयोजन वाला हुआ कि नहीं हुआ यदि मिथ्या होता जैसे मिथ्या सर्प का काटने पर मैं नहीं मरता हूँ है ना मिथ्या सर्प काटेगा तो मर जाओगे क्या नहीं इसे मिथ्या रोटी खाने वगैरह भूख मिटना नहीं चाहिए ये रोटी मिथ्या है उसको मैं खा लूंगा मेरा भूख कैसे मिट गया नहीं मिटना चाहिए ना तो मिट जाता है हाँ मिथ्या ही मिटना और अलग बात है अभी उसमें गया ही ना पूर्व पक्षी तो सब प्रयोजन का सिद्ध कर रहा है ना मिटना मित्र नहीं समझ रहा आप उसको इतना ही कहना है कि देखो मेरे को मिथ्या सर्प ने काट दिया मिथ्या सर्प दिया क्या वो अकल है नहीं ना थोड़ा तो अभी विवेक की कमी है इसलिए कह रहा है कि मिथ्या सर्प मेरे को काटा तो उसने मेरी मौत को नहीं लाया है ना इसीलिए मानता हूँ कि वो सर्प मिथ्या था क्योंकि मेरे को मिथ्या मौत नहीं हुई लेकिन हम रोटी को मिथ्या नहीं मान सकते क्योंकि इसको खाया तो इससे मेरी भूख मिट गई इसका मतलब रोटी जरूर सत्य है क्या से बन जाना यदि सर्प सत्य होता मेरा मौत हो जाता इसलिए सर्प सत्य नहीं है इसलिए मौत नहीं हुआ यदि रोटी सत्य है तो भूख जरूर मिटेगा यदि रोटी सत्य नहीं होता तो भूख नहीं मिटना चाहिए अतः साबित हो गया रोटी सत्य है क्यों भूख को मिठाना रूपी प्रयोजन वाला है वो तारस प्रयोजन वाला वस्तु होने के नाते निष्प्रयोजन सर्पादियों के समान रज सर्प या मृगदृष्ट का आदि के समान आपका दिया है जो वित्तई तो मैंने मृगदृष्ट का इसलिए लिया क्योंकि उस जल को पीने से प्यास नहीं होता पूछता है क्या प्यास उस जल को पी लीजिए उससे आपका प्यास बुझेगा क्या नहीं निष्प्रयोजन आता है उस जल में और यहाँ जल में सप्रयोजन इसे सदृशता कहा रहा इसलिए वित्त ही सदृश हसन आपके वचन झूठा साबित हो गया क्योंकि वहाँ उन वितत पदार्थों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और यदि ये भी वितत होते तो यहाँ प्रयोजन सिद्ध होना नहीं चाहिए लेकिन सब प्रयोजनता को देखते हुए इनको हमें स्वप्न की अपेक्षा से जागरूक को उत्कृष्ट मानना पड़ेगा सत्य मानना पड़ेगा सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्ने प्रतिपद्य तस्मा आद्यंत मिथ्य कहते हैं कि भाई आप जो बोल रहे हो ना कि मैंने रोटी खाया उससे मेरी भूख मिट गई तुम झूठ बोल रहे हो क्यों क्योंकि तब जब तुम खा के सो गए थे भंडारा फिर स्वप्न में तेरे को क्यों भूख लगी फिर यदि ये सब प्रयोजन वाला होता वहाँ आपको भूख नहीं लगना चाहिए ना अभी अभी खा के सोए हो पांच मिनट नहीं मित्र इतना भूख लग गया और स्वप्न में भोजन खाए भी और जगते ही बराबर कहते हैं अरे भूख लग रहा है कुछ रोटी पानी चाहिए क्यों कह रहा है इधर स्वप्न में खाया हुआ जागृत में काम में नहीं आया और जागृत में खाया हुआ जो स्वप्न में काम नहीं है इसलिए दोनों ही निष्प्रयोजन हो तो कहते तेषाम सब प्रयोजनता जागृत के पदार्थों की सब प्रयोजनता स्वप्न में भी प्रतिपन्न है विवाद ग्रस्त हो रहा है यदि वास्तविक होते और इनका प्रयोजन भी वास्तविक होता तीनों कालों में यह वो प्रयोजन की बाध्यता नहीं होनी चाहिए थी लेकिन बाध जा रहा है ये तो प्रतिपत्ति हो रही है तस्मात इसलिए कहना पड़ेगा आद्यंत वाले होने से ते मिथ्य स्मृता इसलिए पदार्थों में मिथ्या ही है ऐसा निश्चित कर लिया गया कल पर्यंतता उपाधि है दूसरे का जागृत विषय मिथ्या न भवन दे सब प्रयोजनकता सब प्रयोजनकता तिन्यम तन्यम यथा मृत दृष्टि का जलम ऐसे उदाहरण मान गया जागृत विषय कहते हैं सत्य है क्यों क्योंकि ये सब प्रयोजन वाले हैं जो सब प्रयोजन वाला नहीं होता वह मिथ्या नहीं ऐसा नहीं होता अर्थात मिथ्या होता है यथा का जलम यम तन्न एवं अतएव जागृत पदार्थ सत्या सप्रयोजन जो सब प्रयोजन वाला नहीं है वो सत्य भी नहीं होता है या नहीं जैसे मृत कृष्ण का चल ऐसे पूर्व पक्षी ने अनुमान दिया तब हम उसके में उपाधि दे देंगे क्या उपाधि दे रहा हूँ फल पर्यंत राहित्यत्व उपाधि फल था जो सब प्रयोजनता तुम कह रहे हो तद तो भाव सब प्रयोजन भावत्तम सब प्रयोजन भाव तो कहा कर हम स्वप्न क्योंकि यहाँ खाया भोजन वहां काम नहीं आया तो इसका मतलब यहाँ अपने बंदूक लेकर के सो गए क्योंकि किसने फोन कर दिया था आज रात्रि हम आएंगे और आपको गोली से उड़ा देंगे तो डर के मारे आपने क्या किया आपने बगल में बंदूक रख करके सो गए हम हाँ, नींद आ गई और जिस भय को लेकर नींद में गए हो उसके कारण स्वप्न में वो चोर लोग आ गए बंदूक लेके मार दिया आपका यहाँ रखा हुआ बंदूक कोई काम नहीं आया स्वप्न में बंदूक ढूंढ रहे हैं और वहाँ कोई बंदूक मिल नहीं रहा तो यहाँ रखा बंदूक क्या फायदा हुआ फिर तो वहाँ काम में नहीं आए है या नहीं तो इसी तरह से अनेकों दृष्टान्त हो सकते हैं इसलिए कहते कि देखो स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यानों पर असत्यम यदुक्तम तद अयुक्तम पूर्व पक्षी कहता है स्वप्न दृश्यों के समान जागृत दृश्यों को आपने जो आसक्त करके जो कहा है वह बिल्कुल युक्त नहीं है ये समाज क्योंकि जो है जागृत दृश्य अन्न पान वाहन आदि क्षुत पास निवृत्ति कुरो गमना गमनादि कार्य सब प्रयोजना दृष्टा क्योंकि जागृत के जो दृश्य है कहते हैं अन्न पान वाहन आदि कौन है वो दृश्य अन्न पान वाहन आदि अन्न पान क्या कर रहे हैं शुद्ध उपास आदि को निवृत्त करते हैं वाहन आदि से गमना गमनाधिकारी होता है इस प्रकार सब प्रयोजन होता हुआ जागृत दृश्यों को देखने को मिला है न तो स्वप्न दृश्याम तदस्ते स्वप्न के दृश्य में ऐसा नहीं होता तस्मात लेकिन स्वप्न का दृश्य स्वप्न में तो भूख मिटा ही रहे स्वप्न के में गमनागमन के काम में तो आई ही यानी स्वप्न का घोड़ा वहां काम में नहीं आया क्या काम में तो वहां भी आ रहा है स्वप्न के पदार्थ स्वप्न में सब प्रयोजन हुआ जागृत के पदार्थ जागृत मात्र में सब प्रयोजन हो रहा है इसलिए यह हेतु विचारी है अव्य विचारी कहा ना अवस्था त्रय में अव्य विचारी होनी चाहिए सब प्रयोजनता तभी तो मानूंगा त्रैकालिक सत्यता इसके अंदर स्वीकार किया जा सकता है उसके बिना नहीं इसलिए कहते कि देखो इसलिए पूर्व पक्ष अपने तरफ से बात कह रहा है तस्मात स्वप्न दृश्य जागृत दृश्य नाम असत्यम मनोरथ मात्र इस स्वप्न दृश्य के समान जागृत दृश्यों को मिथ्या मानना आपका मनोरथ मात्र ही है चेतन तब सिद्धांत के जैसे मत कहो यस्मात जिसलिए कि जो सप्र जनता दृष्टा या पान आदि नाम सप्रे प्रतिबद्ध है क्योंकि जो है जो सब प्रयोजनता आपने अनुभव किया था कहा अन्न पानादियों में वह स्वप्न में क्या हो गया ये प्रतिपन्न हो गया अब देखो ना यहाँ भले ही डायबिटीज है जागृत में मिठाई नहीं खा रहे हैं है? और स्वप्न में दुनिया भर मिठाई खा लिए तो क्या इस शरीर में डायबिटीज बढ़ेगा है नहीं बढ़ेगा ना आज स्वप्न में दुनिया भर लड्डू खा लीजिए कुछ भी खा लीजिए तो उसके वजह से जागृत शरीर में कोई डायबिटीज बढ़ता नहीं है नहीं और यहाँ जागृत मिठाइयाँ नहीं खाए इसे स्वप्न का शरीर में डायबिटीज घट जाएगा ऐसा नहीं हो क्या शुगर लेवल डाउन हो जाएगा मौत आ जाएगी क्या कभी नहीं होता क्या हाँ, काम करता समस्या तो ये हो रहा है ना और देख लीजिए स्वप्न के शरीर के साथ यदि जागरण शरीर को यदि किंचित क्षण के लिए भी अत्यात्म करने का असर होता है नहीं तो स्वप्न दोष क्यों होता है लोगों का दोष जो होता है क्यों हुआ अरे स्वप्न शरीर में भोग कर रहे थे क्या फर्क पड़ा उससे शरीर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन भोग करते करते करते वो शरीर में भी तो हो जाता है तो खट किया गड़बड़ा क्षण भर का खेल है वो नहीं होना यही होता है वह घबराए आदमी के अंदर क्षण भर के लिए में आ गए शरीर के अंदर स्वप्न का सर हार्ट अटैक तो हो गया साथ ही भी हार्ट अटैक हो जाए दोनों ही खत्म हो जाएंगे नहीं तो क्या स्वप्न शरीर में हार्ट अटैक होगा यानी यहाँ का शरीर में हार्ट अटैक नहीं होगा लेकिन होता क्या उस घबराहट के कारण में वो समय अत्यंत रतिभाव में घबराहट आदि स्थितियों में दोनों में क्या होता है हो जाती है मतलब इसलिए क्या होता है वहां देखा घबराहट का चीज और यहाँ पसीना छूट रहा है जब जब के देखते हैं अपने आप शरीर में पूरा पसीना पसीना बहुत परेशान उसका असर रह गया क्यों क्योंकि तत्काल तादात्म्य उसी के लिए निषेध कर देते हैं ऐसी स्थिति वालों के लिए कहते हैं कि भाई फिर तो सतर्क रहना जरूरी है जब तक तादात में नहीं होगा इस शरीर के साथ तब तक तो वो मिथ्या का वहाँ का है यहाँ का यहाँ वहाँ का वहाँ कोई संबंध नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं कि जागृति भुक्ता पीता तृप्त जागृत में क्या हुआ खा पी करके बड़ा तृप्त हुआ डकारते डकारते सो गया विनिवर्तित त्रिट सुप्त मात्र विनिवर्तित त्रिट भोग व्यास निपट चुका और लेकिन सो गया सोने मात्र से ही क्षुत्पादादि आतम पास आदि से वो पीड़ित हो गया अहोरात्रोषितम अभुक्तवंतम मातान मन्यते और अपना माँ क्या मानता है कई दिनों से मेरे को रोटी पानी मिला ही नहीं अरे मैं भूखा प्यासा हूँ ऐसे अपने आप को मानने लगता है स्वप्रे भुक्ता पीता फिर बाहर मान लो वहां मिल गया चकाचक भोजन पा लिया उसने कहीं निमंत्रण पाया हर खा लिया तो हुआ क्या कर तो कहते हैं कि भाई अरे ब्राह्मण तो निमंत्रण का ही भूखा रहता है कि नहीं हुआ है ना ऊर्धम सब तो था उसको लोगों ने दूसरा व्याख्या किया कि नहीं किया इसीलिए ऊर्धम गच्छते डकता रहा अदो गच्छत्यपान वायु मध्य तिष्ठति पक्वान्नम निमंत्रण छेद क्या करो इसे कहते हैं कि वे परानम दुर्लभम लोक है परांत दुर्लभ है इस लोक में निमंत्रण माँ महागच्छे चेत तरिएव गच्छे उसी समय चल पड़ो भंडारा खेलने दोबारा छोड़ना नहीं निमंत्रण ब्राह्मणों का मामला है अजकार भी हो रहा है अपान वायु निकल रहा है बंदे बढ़िया पकवान खा रखा है फिर भी जो है निमंत्रण मिल जाए तो कहते परानम दुर्लभ हम लोग अरे पर तो दुर्लभ लोग में कहा छोड़ रहे चलो चल वैसा तुरंत ही तो कहते कि क्या करे स्वप्न में ऐसे ही मिला उसको निमंत्रण खूब खाया भुक्ता पीता चा अतृप्तो पिता लेकिन जब चलता है तो और तृप्ति पूर्वक उठाओ भूखा पैसे उठ गए खाया पिया मजे से और यहाँ जगह तो भूखा कैसे तो जग गया दोनों तरह देखा जाता इसलिए विपरीत भी दिया जान करके अतृप्त तथा अतृप्त होकर के उठा है इसे स्पष्ट है कि स्वप्न का अन्न कानादि मिथ्या है जागृत में काम नहीं आई इधर जागृत अनुमान आदि भी मिथ्या है जितने उनके स्वप्न में काम नहीं आए तस्मा जागृत दृश्यान प्रतिपत्तिर दृष्टा इसे जागृत जो दृश्य पदार्थ होंगे स्वप्न में विचार स्पष्ट अनुभव में आ रहा है अतो मन्याम तेषाम अप्यसत्यम इसलिए मैं यह मानता हूँ कि भय वे जो जागृत के दृश्यभूत पदार्थ सभी के सभी मिथ्या है स्वप्न दृश्यों के समान दृश्यवत अनाशंकनीय मिति इसलिए इस विषय में कोई शंका ही आपको नहीं करनी चाहिए अनाशंकर मिति मन्याम तस्मात आद्यंतवत्व उभयत्र समान मिथ्य खलुते स्मृता इसलिए वत्व दोनों स्थान के पदार्थों में समान होने से उनको मिथ्या करके निश्चय करके कर लिया गया है तो कहता है फिर भी महाराज खराब तो फिर भी मानना पड़ेगा आपको क्योंकि जो स्वप्न का दृष्टा है और जागृत की दृष्टा में बहुत अंतर है स्वप्न की दृष्टा तो देखो बिना मेहनत का सब बना लेता है कोई चुनौती तो संकल्प करता है खट तो बनते जाता चाहिए और यहाँ संकल्प करो तो बन जाएंगे क्या है कुछ नहीं बनता तो मेहनत करना पड़ेगा मेहनत तो करना पड़ेगा इकट्ठा करने पड़ेंगे सामान लाओ मकान बनाना है तो कितना झंझट है और वहां पर मकान बनो कोई झंझट हुआ अरे शहर के शहर बना लिया मकान क्या सर्व मात्र में सारा शहर घोड़ा घड़े सब बना लिए और यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा रोटी बनाने के लिए भी बड़ा परेशान लेकिन क्यों संकल्प मात्र सोच तक नहीं हो रहा है दवा खाने पड़ रही नहीं और कहते हैं महाराज क्या करे कॉन्स्टिपेशन हो गया दवाई खाओ और क्या करे यहाँ की पानी ऐसा है ठीक है शौच होता है ना कुछ होता है ये कई लोग इधर पार छोड़ के भाग गए क्या गए गैस की बीमारी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी तो इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ तो ये दिख रहा है हम संकल्प करते हैं काम होता नहीं वहाँ हम देखते हैं कि जो संकल्प करो सो हो जाता है तो दोनों में फर्क हुआ कि ग्राही ग्राहक दोनों समान कहा हुए यहाँ के ग्राही ग्राहक में वहाँ के ग्राही ग्राहक में बहुत अंतर हो गया तो कहते नहीं ये उसी प्रकार जो स्वर्गवासी का हाल है अपूर्व स्थान धर्म ही यथा स्वर्ग निवासी नाम तानयम प्रेक्षते गत्ता यथवे सुशिक्षिता अपूर्व स्थायी धर्म ही स्थायी में वो जो स्वप्रस्थान वाला दृष्टा उसका